मनसा की सर्वभूत अभय प्रदान सकल भूतों को अभय प्रदान के द्वारा मैं इस अहिंसा का शरणागत हूँ इस योग धर्म के शरणागत हूँ इसलिए योगम शरणम गच्छा ये तो कहते ना धर्मम शरणम गच्छा बुद्धम शरणम गच्छा तीसरे कहते हैं कि देखो ये भाव जब लाएंगे वो हिंसा की वृत्ति मन से हट जाएगा दूर हो जाएगा सखलु अहम त्यक्वा का इस प्रकार से वह साधक अपने अंदर पैदा हुआ जो हिंसा वितर्क सत्य वितर्क इत्यादि है उनको त्याग कर पुनः तान आदान तुल्य स्वृत्ति यदि वह त्याग हुआ को दोबारा करता है तो वांताशी के समान कुत्ते की जिंदगी है उसकी जिंदगी कुत्ता एक ऐसा जीव है जो उल्टी करके उसको चाट कर खाता उल्टी करता है फिर उस उल्टी को खाता है ये कुत्ते की विशेषता है आपने भी क्या किया पहले संकल्प लिया कि मैं अहिंसा पालन करूंगा हिंसा कभी नहीं करूंगा मैं सत्य का पालन करूंगा झूठ कभी बोलूंगा नहीं और फिर उसका उल्टा चलोगे फिर हिंसा को ग्रहण करोगे अनृत को ग्रहण करोगे क्या आगे ही वे तो दोबारा ग्रहण करने के लिए दृष्टान दे रहे हैं यहाँ पर स्ववृत्ते न तुल्य कुत्ते का जिंदगी के बराबर है उसका जिंदगी जैसा कुत्ता उल्टी करके वापस चाट देता उसके इसलिए कुत्ते का नाम ही है वानताशी वांत में उल्टी करना किए वस्तु कोई खाना अशुभ अच्छा अशुभ अच्छा भोजन ही वांताशित एक नाम हम त्याग के जिस चीज को आए हैं और उन्हीं को यदि दोबारा हम ग्रहण करते तो हम भी वांताशित तुल्य अतएव अभी हमें ऐसा काम नहीं करना है अभय प्रदान कर दिया तो कर दिया फिर दोबारा में किसी भी हालत में किसी के प्रति भी काया वाचा मनसा विपरीत विचार लाना नहीं चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए झूठ नहीं होना चाहिए अस्थे नहीं होनी चाहिए और भी नहीं और परिग्रह भी नहीं अन्यों के नाम पर लोभ लालच बढ़ता है कई लोग पूछते हैं महाराज आप ही क्यों ऐसे नहीं करते कथा प्रवचन करो कुछ पैसा वैसे इकट्ठा करो हम लोग के अन्य क्षेत्र चलाओ हाँ, हाँ। तुम लोगों के अन्य क्षेत्र भी चलाऊंगा तुम लोगों के लिए पढ़ा भी दूंगा तुम लोगों के लिए सब कुछ करते रहूंगा मैं डूब जाऊंगा सारे तुम भी डूबोगे अन्यों के नाम पे परिग्रह करना शुरू हो जाता है बड़े बड़े संस्थान इसी में डूब रहे हैं अनधिकृत अनपेक्षित धनराशि को भी अनावश्यक ग्रहण कर जितनी आवश्यक उतना लिया बात खत्म लक्ष्य का यदि विस्मृति हो जाती है तो व्यक्ति ऐसा लौकिक व्यवहार में भटक जाता है जिसे बार बार कहते ऐसे लोग क्या कहते हैं वान राशि स्ववृत्त तुल्य हो जाए जिस धन दौलत का त्याग के आयो फिर उससे पीछे भागने के क्या मतलब शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है साधना के लिए जितने आवश्यक है उतना ग्रहण करो उससे ज्यादा कोई देता भी है तो भाई अपने पास रखना क्या जरूरत है ये भाव लाना चाहिए वो अस्थयी होगा तभी नहीं तो स्थयी हो जाएगा यथा स्वांतावले ही स्वयं व्याख्या कर रहे हैं उसको यथा स्वा कुत्ता वांतावले ही जो उल्टी को खाता है चाट लेता है तथा त्यक्त से पुनरादानम उसी प्रकार से तख्त का पुनर्ग्रहण करना भी महान दोष है इत्यमारी इत्यमारी विचार और भी अगले सूत्र बताएंगे जो प्रतिपक्ष भावना कितनी प्रकार की है कैसे कैसे करनी चाहिए उसका अगले सूत्र वर्णन करिए सूत्रांत योज्यम सूत्रांतरों में भी इसको ग्रहण कर लेनी चाहिए विदर्क का हिंसा कृत कार्यता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह का मृद मध्यादि मात्रा दुख अज्ञान अनंत की प्रतिपक्ष भावना तो इन सारे वितर्क जब आते हैं वो भी तीन प्रकार के जरूर आप करेंगे कुछ तो आपने किया कृत है कुछ कराया कार्य किसी ने किया था सुनने का आपने आ हाँ, बहुत बढ़िया हुआ बहुत ठीक किया तो, तो बर्बाद हो गया वो बहुत अच्छा हुआ उसके हाथ टूट गए आ बहुत बढ़िया हो गया सुन करके बड़ा खुशी मनाते वो कहते अनुमोदित कृत कारित अनुमोदित तीनों प्रकार का वितर्क है हिंसा हिंसा दस जो पड़े हैं दसों विषयों में प्रत्येक के अंदर तीनों प्रकार का वितर्क बाधक समझना चाहिए लोभ क्रोध मोहपूर्वक ये होता क्यों है आप स्वयं करते हो लोभ वशा कराते हो क्रोध वशा और खुश होते हो मोह वशा लोभ क्रोध मोह पूर्व का और उसमें भी तारतम्यता और कम मृदु मध्य अधिमात्र कुछ बहुत हल्के फुलके आ जाते बाधक कोई तीव्र आता है कोई मंद रहता है कोई मध्यम है कोई तीव्र मृदु मने मंद मध्य मने मध्यम और अधिमात मने तीव्र होता है ऐसे ऐसे आ जाते हैं वासनाएं इतनी तीव्र हो जाता है कि उसका विवेक ठप और कर बैठता है गड़बड़ बाद में होश आता हो सब काम गड़बड़ हो गया बाद में याद आने से क्या फायदा काम तो खराब हो ही गया और जेल में बैठ के पछताने से क्या लाभ है पहले विवेक होता तो अच्छा था खुद भी बदनाम हो जाओ दुनिया को बदनाम कर डालो और फिर पछताओ मेरे से गलत हो गया जी क्या फायदा एक मृदु उतना खतरनाक नहीं है मंद है आया थोड़ी देर रुका चला उतना आपके लिए बड़ा बाधक नहीं मध्यम वाले को भी आप झेल लेते हो थोड़ी देर तक रहता है टेंशन चलता है टेंशन टेंशन बोलते हैं आज भाषा में तनाव तनाव बना रहते दिमाग वो तनाव इतना बढ़ जाए कुछ कर नहीं पाएगा तो सो जाएगा थक जाता है ना मन कहा उसको लेकिन तना रहेगा सो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगला दिन पाता सब खत्म शाम मध्य भी ठीक है इसीलिए कुछ हद तक चलो एक दिन ही तो खराब किया उसने जिंदगी तो खराब नहीं किया एक दिन आपका बेकार गया कोई बात लेकिन इसने बहुत ही संभाल के रहना पड़ता है अधिमात्र में ये तीव्र वितर्क बाधा आ जाए तीव्र हिंसा की वृत्ति आ जाए तीव्र अनृत की वृत्ति आ जाए तीव्र स्त्री की वृत्ति आ जाए तीव्र अब्रह्मचर्य तीव्र परिग्रह तीव्र अशौच नहीं लेना तीव्रता तीव्र तो गाय मन अरे तब करके क्या फायदा भैंस जैसे मैं बैठा हूं क्या मिलेगा इससे छोड़ो करता हो तब कुछ मान पढ़ पंडित के क्या फायदे देखो ना वो विद्वान को गड़बड़ किया ये विद्वान ही गड़बड़ कर रहा है पढ़ के क्या करना है सब विद्वान ऐसे ही होते हैं इसे छोड़ो पढ़ना ऐसे करो पढ़ाई छोड़ देते अरे वो वो वो सब ऐसे तू भी ऐसे क्यों होना वो जरूरी है क्या तुम भी ऐसे हो जाओगे नहीं वो अकल नहीं आती उस समय में उल्टा ही चलता है ना रील उल्टा चल पड़ता है वो सब पढ़ाई छोड़ देते हैं स्वाध्याय को त्याग देते हैं इसे स्वाध्याय का अस्वाध्याय आतप अस्वाध्याय अनिश्वर प्रणिधान ये सारी चीजें इन सभी में जब तीव्रता आ जाए तो आदमी को बहुत ही सतर्क करना चाहिए समझना चाहिए किस तरह से काटना है ये मान के कि दुख मिलेगा इससे ये अज्ञान का पहचान है जैसे मैंने कहा ना अभी कहा आपने जब पाऊ खीर को भी खाएगा तुरंत हमने का मूड है वो तुरंत आना चाहिए दिमाग खट से ये मूढ़ता का काम है मूर्खता है ये गलत ये नहीं होनी चाहिए वो विवेक इतनी बनाए रखो अभ्यास से ताकि जब भी ऐसी वासना आ जाए खटित आप उसमें समझे इससे इसका फल दुख है यह अज्ञान पूर्वक हो रहा है और आनंद क्षण इस प्रकार का अज्ञान दुख होगा क्यों नहीं पकड़ेगा ये वासना एक जन्म की है क्या अनेक जन्मों का है इसे भगवान ने भी अनेक जन्म संसिद्ध कश्चित व्यक्तिमान तत्वतः अनेक जन्मों से घिसना भी पड़ता है इसे एक जन्म का खेल नहीं है एक जन्म का खेल और अनेक जन्म से घिसे हुए में से भी भगवान कहते हैं एक मेरे को पाता है बहुत नहीं केचित व्यक्तिमान तत्व तो नहीं बोला भगवान कौश्चित व्यक्तिमान तत्व तो दो जान लेंगे मेरे को नहीं कश्चित व्यक्तिमान तत्व एक वचन प्रयोग कोई कोई होता है माई का लाल और सब माया का लाल है ना माई का लाल वो है जो मनुष्य जन्म का सार्थकता करे वही माई माँ का लाल है और बाकी सब तो माया का लाल है इधर माया में मर जाते सब बर्बाद हो जाती तो इसलिए माई कलाल बनना है तो सोच लो अभी से हाँ? अपने माँ के दूध को हराम मत करो संभल लो है या नहीं तो इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है दुख अज्ञान और अनंत फला दुख का फला अज्ञान फला अनंत फला चीति प्रतिपक्ष भाव ऐसा प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए इसका विस्तृत विचार कल होगा